प्रज्ञा वचना माया शब्द है सत्यम पूर्व पक्ष ने कहा निघंडो जो वैदिक कोश है उसे प्रज्ञा शब्द को के पर्याय वाच्य में माया शब्द को रख दिया गया माया और प्रज्ञा दोनों पर्याय वाच्य ज्ञान के द्वारा ये अर्थ हुआ मिथ्या का सिद्ध होगा यदि सत्यम बात कर दी ज्ञान तो अनेक है नहीं बहुवचन है माया भी इसे ज्ञापन होता है यहाँ जब प्रज्ञा भी लेंगे तो कौन सी प्रज्ञा लेंगे तो इंद्रिय प्रज्ञाया इंद्रिय प्रज्ञाया इंद्रियों से जो उत्पन्न वृत्ति जन्य ज्ञान उनको कहते इंद्रिय प्रज्ञा इंद्रिय वृत्ति ज्ञान इनके द्वारा अविद्यामय तो भी अविद्यामय अविद्या का कार्य इंद्रिया इंद्रियों से जो वृत्ति इंद्रिया भी अविद्या का कार्य है इंद्रिय वृत्तियां भी अविद्या कार्य है तदावचिन चैतन्य जो है प्रातिभाषिक कार्य है अतव तारस ज्ञान प्रज्ञा को यहाँ माया शब्द से कह भी रहे हैं तो हमारा कोई विरोध नहीं अविद्यामय तेरा मायात्व अभिगमाद अदोष अविद्यामय होने से मायात्व उसको भी हमने स्वीकार किया हूँ अतएव कोई दोष नहीं है इसलिए आपके अनुसार हम अर्थ लेते हैं माया विकार क्या होगा इंद्रिय प्रज्ञा भी अविद्या अविद्यामय इंद्रिय जन्य प्रज्ञा विशेषों के माध्यम से अजायमानो बहुधा विजायते श्रुत है श्रुति प्रमाण है वस्तुतः जन्म शून्य होते भी अजायमानो बहुधा विजायते लेकिन बहुत प्रकार विशेष रूपेण उत्पन्न हुए के समान अनुभव में आता है यदि श्रुदय तस्मात माई जायती तू सह इसलिए आज का वास्तविक जन्म ना होने से माया के द्वारा उसकी उत्पत्ति माना गया तू शब्द अवधारण माए जाए तू सहा है जो कर तू शब्द जो है अवधारण अर्थ में एव अर्थ माया एव जाए किसी का व्यावर्तन नहीं करना है यहाँ निश्चय पूर्वक पर कथन अवधारण एव का माया एव तस्मात माया जायते तू सहा नहीं नहीं मानत्व बहुधा जन्म चाहे एकत्र संभव एक वस्तु में मानत्व और बहु बहुरूपेण उत्पत्ति दोनों एक साथ हो नहीं सकता क्योंकि परस्पर विरुद्ध धर्म होने से अग्नवी व शैत्यम औत्यंच जैसे अग्नि रूपाधिष्ठान में पुष्टता और शीतता दोनों एक कालावच्य दिन हो नहीं सकता जैसे फलवत्ताच्छ आत्मिक दर्शन एवं श्रुति निश्चित और फलवत्ताच्छ और एक हेतु दे रहे हैं फलवत्त फलवान होने से भी आत्मिक दर्शन को श्रुति के निश्चित तर्क माननी चाहिए फलवत्ताक्ष आत्मिक तो ज्ञान ही सृष्टि श्रुति के तात्पर्य गम्य है और सृष्टि तो तारश आत्मिक तो ज्ञान रूपी फल के शेष रूपेण इसको ग्रहण करना चाहिए अतः मुख्यार्थ विवक्षित नहीं है इस बात पे हित तंत्र दिया फलवत्ता चेती क्या फलवत्ता है वही समझा रहे हैं एकत्व दर्शन तत्र को वह कह शोक एक वश्यत इत्यादि मंत्र वर्णा आचार उपदेश हम उसके पश्चात अनुभूति करता हुआ व्यक्ति साक्षात करता हुआ व्यक्ति एकत्व का साक्षात्कार जब कर लेता है शोक मोह से उपलक्षित संसार ही उसके लिए नहीं रह जाता है ये इसका आक्षेप में है तो मोह का शब्द कहा रह जाता है मैंने नहीं रह जाता है मृत्यु समृत्यम आप नोती अच्छा तत्वाचा कह रहे तो मृत्यु सा मृत्यु आप होती यह नाने व पश्यती जो या नाना के समान भी अनुभव करने लग जाए वास्तविक भेद को स्वीकार करने पर तो गया ही वो और कल्पित भेद में भी किंचित काल पर्यंत व्यावहारिक श्रद्धा को स्वीकार करके जो चलता है वो भी गया इसे नाना इव यह पशती सा मृत्यु मृत्यु मापनोती और मृत्यु से भी जो भयंकर मृत्यु रहती है तो जन्म मरण तो रहा ही मृत्यु इससे भी भयंकर मृत्यु कौन है अविद्या मृत्यु को वो प्राप्त कर लेता है इस प्रकार से नानात्व दर्शन द्वैत दर्शन को निंदा भी किया गया है इसलिए एकत्व रूपा जो अद्वैत दर्शन है वही वास्तविक सृष्टि आदि के समस्त भेद दृष्टि जितने भी हैं सृष्टि आदि भेद दृष्टि है निर्तत्वाच सृष्टि आदि निर्विधा जो भेद दृष्टि का निंदा किया है और ज्ञापन कर दिया इन समस्त श्रुतियों का तात्पर्य अद्वैत बोध कराने में ही है इतना ही नहीं कार्यों में सबसे महान कार्य कौन है सबसे बड़ा कार्य कौन सा कार्य अविद्या तो कार्य तो कारण है अविद्या माया बराबर है ना नाम अलग है अविद्या माया पर्यायवाची है अविद्या कार्य नहीं मूल कारण वो है कार्य कौन सा है प्रथम कार्य प्रथम कहा गया कई बार हिरण्य सबसे बड़ा कार्य वही है उसके अंदर फिर सारे आ गए उसी के पेट में सब है ना हस्ती पदे सर पदा भवंती जैसे हो गया हाथी के पैर सब पैर है हिरण्य में सब कुछ अब हिरण्य घर का भी अपवाद किया है इसे ज्ञापन हो जाता है सृष्टि का तात्पर्य सृष्टि में नहीं है कहा अपवाद किया ईशावास परिषद पड़े ना कारण परम का निषेध नहीं किया वहाँ संभूतेर अपवाद अच्छा संभव प्रतिषिध्य कौन्वेनम जनहेदी कारण प्रतिषिध्य कारण का निषेध कर दिया संभूति का अपवाद कर दिया सम्यक भूति मन ऐश्वर्य सात संभूति ही कौन है वो देवता हिरण्य गर्भाख्या कस्याश्च कार्य मध्य श्रेष्ठ आया वही समस्त कार्य में श्रेष्ठ कार्य है उसका भी यहाँ पर निंदित जो केवल समुद्र की उपासना करता है उसे भी कुछ नहीं मिलता है एक तभी मृत्यु को ही प्राप्त करता है वहां पर आप तीन मंत्र देखते हैं तीन तीन मंत्रों में हिसाब किताब है ना वहाँ अविद्या मृत्यु तीर्था आया इसी प्रकार से संभूति विनाशिंच ये सब आया कि नहीं आया तो उन सारे मंत्रों को ध्यान रखिए संक्षेप में बोल दे रहे हैं यहाँ संभूतिर अपवाद संभूति का अपवाद कर देने के कारण से संभव प्रतिषिध्य समस्त कार्य का ही निषेध हो गया समझो संभूति हो गया हिरण्य वाक्या महान कार्य है जो वही निषिद्ध हो गया अन्य समस्त कार्य श्रुति खत्म हो गए और अन्य श्रुति में एक श्रुति दिया वहाँ कहते कौन वेनम जने दीदी ऐसे कहा कारण प्रतिषेध के द्वारा तो अवस्तु का सिद्धि भी हो जाता है इसलिए कहे हैं तो अद्वैत सिद्धि करने के लिए कौन वेनम जने कर दिया बदान ने कहे शायद कहता व्यर्थ कौन का तात्पर्य निषेध पर पर कहेंगे मूल में भाषिकार देखिए उससे पहले यहाँ पर वही पूरी विश्वासी का विचार संक्षेप में दिया एक नंबर टिप्पण देख लेना समझ में आ जाएगी तभी अच्छी तरह से अंधम दवा प्रवेश विद्या उपास इत्यादि के द्वारा षण्डा मंत्राणा व्याख्यांतर पक्ष अर्थ क्रमो बलियान न्याय इन मंत्रों को क्योंकि दो शाखाएं एक कार्व शाखा और एक माध्यम शाखा भाष्यकार ने अपने माध्यम शाखा के अनुसार व्याख्या न करते हुए कारणव शाखा के अनुसार भाष्य को लिख दिए इन माध्यमिक शाखा में क्या इन तीन मंत्रों को ऊपर नीचे रख दिया उल्टा कर दिया गया तो उन छह मंत्रों में से तीन पहले जो है उनको बाद में रख दिया अब वो पाठ्यक्रम चलते हैं तो फिर सारा अलग ही अर्थ हो जाना चाहिए ये जो शंका शुरू करते पाठ्यक्रम अर्थक्रम हो गया पाठ्यक्रम की अपेक्षा से अर्थ क्रम बलवान है इसलिए भाष्यकार ने वैसे व्याख्या किया है उस न्याय के अनुसार अन्नम दी ये असंभूति मित्र स्त्रो मंत्र पूर्व व्याख्या जो पश्चात है उसको पूर्व व्याख्या तो फिर आदि मंत्र पूर्वार्धे तब क्या होगा आदि मंत्र के पूर्वा से क्या लेनी पड़ेगी असंभूति उपासना निंदा पूर्वार्थे ना असंभूति दीर्घ बनाओ उसको असंभूति उपासना निंदा विधाय असंभूति उपासना निंदा का विधान करके उत्तरार्घ के द्वारा संभूते अनुपात है उत्तरार्घ के द्वारा क्या कर दिया केवल संभूति और केवल संभूति किसी की उपासना उचित नहीं है कर दिया फिर दूसरे मंत्र के द्वारा द्वितीय मंत्र ना कर्म संभूति उपासना और साफल्यम अभी विधि कर्म और संभूति के जो है दोनों की दोनों के दोनों को उपासना उनका यदि समुच्चय पूरे अनुष्ठान करते हो तो सफलता का भी कथन किया केवल कर्मानुष्ठान भी ठीक नहीं केवल संभूति उपासना भी ठीक नहीं कर्म विशिष्ट संभूति उपासना वही फलदायक उचित होता है कम से कर्म मुक्ति तो मिलेगा सत्य मुक्ति ना मिले जाए कर्म मुक्ति का तो गारंटी हो जाएगी तृतीय मंत्र पूर्वार्थ देना अरे ना पूर्व मंत्र अनुपात गृह मंत्र प्रतिपाद्य समुच्चय अपेक्षित यदि पूर्व मंत्र में कर्म को तो लिया नहीं था और यह कर्म शरीर से ले लिया संभव शब्द न संभूति उपासना उच्चते असंभव शब्द कर्म विवक्षते तब कहते पूर्व मंत्र में तो कर्म का वाचक लिया नहीं वो न लिया वो कैसे आपने अगले मंत्र में ले लिया कहते वो तो गए समुच्चय का बोध कराने के लिए ग्रहण करना पड़ा इसी प्रकार आगे भी तृतीय मंत्र पूर्वार्ध ने सफल और उपास्य कर्मण हो समुच्चय अभिधीयते तो तीसरे मंत्र क्या करता है सफल उपास्य और कर्म दोनों का समुच्चय का विधान करता है संबोधि शब्द ने सूत्रोपासन से विनाश शब्द ने कर्मण कर्मणानी कर्मणश्च विलापा इसलिए संभूति शब्द से सूत्र उपासना हिरण्य गर्भ उपासना और विनाश शब्द से वहां कर्म को ही कथन करने के लिए इष्ट है इसी प्रकार तीन मंत्र का क्या हो गया उपासना और कर्म का समुच्चय और उपासना में भी हमें विचार करना है सवर्ण उपासना और निर्गुण उपासना में जिनका समन्वय करना है या नहीं करना है महामर भी अकेले अकेले की निंदा किया फिर दोनों ही फलवान ये भी कह दिया और अंत तीसरे मंत्र दोनों के समुच्चय का विधान किया उसको भी कथन कर रहे हैं तद उत्तरार्धे न तो तद फलोक्ति इधानी तृतीय मंत्रोक्त अविद्या शब्द से कर्म संबुद्धि उपासना समुच्चय तृतीय मंत्रोक्त क्या है अविद्या शब्द कर्म और संबुद्धि इनकी जो उपासना है उसी समुच्चय को आगे में विद्यांच विद्यांच ष्ठ मंत्रेण भ्रम विद्या समुच्चय विदा तुम विद्यांच विद्यांच के द्वारा क्या छठे मंत्र के द्वारा भ्रम विद्या के साथ समुच्चय करने के लिए विहित है प्रत्येकम चतुर्थी निंदी नहीं संन्यासना देव जैसे भगवान ने कहा केवल संन्यास लेके केवल जब ज्ञान की निष्ठा करते रहोगे कुछ नहीं बनता है उससे भी अंतकरण शुद्ध हुआ नहीं केवल ज्ञान की जो है झाँकते रहोगे तो क्या फायदा होगा अंतकरण शुद्धि पूर्वक ज्ञानाभ्यास होनी चाहिए केवल ज्ञानाभ्यास कर रहोगे केवल विरक्त हो जाता है जो उसका कोई फायदा नहीं इस तरह से केवल प्रमित्या का भी निंदा और केवल उपासना का भी निंदा ऐसे किया विद्यांश विद्यांश मंत्र के द्वारा तो प्रत्येकम चतुर्थ निंदी थी इन दोनों के प्रत्येक को चौथे मनुष्य ने निंदा किया प्रत्येकम किम उभयोर निंदा भला नास्ती आशंक वह प्रत्येक को फल नहीं कहना चाह रहे हो जब दोनों को मिलने के बाद भी फल नहीं है ये निंदा का है आशा फल है क्या इत्याशंक पांच मंत्र में समुच्चय उपयोगी नम तयो फल भेदम मादर्शती समुच्चय के उपयोगी दोनों का फल भेद को पंचम पंचम मंत्र के द्वारा प्रत्येक अलग अलग फल भी बता दिया और विद्या अविद्या शब्द समुच्चय प्रमितय विद्या और अविद्या शब्द क्या अविद्या शब्द लेना समुच्चय किसकी कर्मोपासन समुच्चय और विद्या से लेना ब्रह्म विद्या साफल्य अविदाय अधुना षष्टेन तय सफलम समुच्चय महा उन दोनों के सफल समुच्चय को विद्यांश विद्यांश इत्यादि के द्वारा अंतिम छठे मंत्र के द्वारा कहा गया ऐसा समझो इति बोध्यम अतएव सकल कार्यों का निषेध करने के पेक्षा प्रधान मूल्य निवारण अन्याय है ना प्रधान मल्ल निवारण न्याय जो मल्लों में जिसको मल विश्व चैंपियन बनना है उसको क्या करना पड़ेगा हर एक गांव में जाएगा वो हर से लड़ाई लड़ेगा मल कहते कुश्ती करने वाला वो करता क्या है विश्व चैंपियन होता है हर आदमी से थोड़े जाएगा जैसे चेस में विश्व चैंपियन हुआ विश्वनाथन आनंद क्या किया उसने इन सब गाँव गाँव में गया सबसे खेला चेस अच्छा और सबसे जीतते गया ऐसे तो कर ही नहीं सकता वो पहले गांव वाले अपने आयोजन कर लेते हैं और गांव के चैंपियन हो जाता है एक हो गया फिर जिला स्तर पर खेल होता है राज्य स्तर पर खेल होता है है ना तो रीजनल बोलते उत्तर भारत दक्षिण भारत ये हिस्से में हो जाता है तो पूरे भारत का होता है और वो व्यक्ति जो बन गया वो, वो हमारे प्रतिनिधि बन जाएगा विश्व चैंपियन वो हार गया तो हमारे भारत हार गया है प्रधानमंत्री है वो हार गया सब गए और ऐसे जो प्रधान जो होते तक देश वाले सब मिल जाते हैं और फिर उनकी आपस चलती है विभिन्न राउंडों में अपने अंत में फैसला हो जाता है लेकिन प्रधान को जिसने हरा दिया तो उसने सबको हरा दिया मान लिया उसी प्रकार यहाँ पर प्रधान कार्य कौन है हिरण्य उसके अपवाद कर डालो तो सारा कार्य अपने आप बाधित हो गया उसी युक्ति को लेकर यहाँ पर धन दबा प्रवेशन दी ये संभूति उपासद संभूतिर उपास तपवाया ये संभूति उपास अन्नम तमसा तमह प्रविशंति जो संभूति उपासना करते हैं घोर अंधकार रूपी अविद्या को प्राप्त कर जाते हैं अपवादात संभव एवं परिषदे कार्य सामान्य का निषेध हो गया समझो नहीं परमार्थ संभूतायाम संभूत हो तो उत्पत्ति है यदि वास्तव में उत्पत्ति हुई होती तो हिरण्य गर्भ का अपवाद करना संभव नहीं था जिसका वास्तविक उत्पत्ति है उसको आप अपवाद कर नहीं सकते जो वास्तव में है तो रज्जु का कौन अपवाद करेगा सर्व का अपवाद जरूर कर जाएंगे लेकिन रज्जु का अपवाद कोई नहीं कर सकता और ब्रह्म ज्ञान दृष्टि उसका भी अपवाद होगा अलग चीज इसलिए कहते हैं जो परमार्थ तो आयाम परमार्थ तो आयाम कार्य जातायाम इत्यर्थ आयाम ने परमार्थ यदि उत्पत्ति हो गई हुई हो किसी वस्तु की तार संभूति आदि विषयों को तद अपवाद न है उसका अपवाद करना बिल्कुल संभव नहीं होगा न विनाश है संभूत समुच्च विद्यार्थ संभूत अपवाद पूर्व पक्षी कहता है वो वास्तविक अपवाद नहीं है वो जो संभूति का अपवाद कर रही है मंत्र अनंतम प्रवेश संभूति उपास ये निंदा जो समुच्चय की प्रशंसा के लिए है वास्तविक कार्य का अपवाद करने में इसका तात्पर्य नहीं है इसका तात्पर्य जो समुच्चय की प्रशंसा में घटाऊंगा अतः संभूति वास्तव में उत्पन्न है उसका अपवाद नहीं किया जा रहा है इस निंदा का तात्पर्य वस्तु का अपवाद में नहीं इस निंदा का तात्पर्य दो वस्तुओं के समुच्चय में है बात सही भी बोल रहा है वो वास्तव में आगे समुच्चय किया जा रहा है वो समुच्चय के विधि के लिए निंदा किया गया तो नन विनाशन संभूत है समुच्चय विद्यार्था विद्या मैंने कर्म से के साथ इस संभूति उपासना का समुचे विधान करने के लिए संभूति मात्र की अपवाद की गई है जैसा आप स्वयं आगे कहते हो तथा अंदम प्रविश प्रविशंती ये विद्या उपासत है स्वयं वेदांत आगे माना विद्या और अविद्या का समुच्चय करने के लिए अविद्या और विद्या एक एक अकेले अकेले का अपवाद किया निंदा किया गया उसका फल क्या है अविद्या और विद्या दोनों की जो है समुच्चय करने के लिए जैसे आप आगे के छह तीन मंत्रों में माना पूर्व तीन मंत्रों में मैं यही कहूंगा समुच्चय के सूची के लिए है कर्म और कार्य उपासना का समुच्चय विधि विधि का स्तुति के लिए मान लो सत्यम देवता दर्शन से सम्बुद्धि विशेष बिना शब्द वाच्य कर्मण समुच्चय विधान अर्थ समुद्ध अपवाद कहते हम मना कहा कर रहे हम भी नहीं भी तो है ये जो अपवाद किया जा रहा है वो समुच्चय का विधि परक है इसे कोई संशय नहीं सत्यम में वह अर्धांगिका क्योंकि वो भी गौण है ये भी विचार गौण है मुख्य क्या है लक्ष्य कार्य का ही निषेध कर देना ब्रह्म ज्ञान मात्र को सत्य बताना है सारे चीजों का मुख्य लक्ष्य क्या है एक अद्वितीय ईशावास के द्वारा जो आत्मदर्शन को सत्य स्थापित करना है यदि क्रमशः एक की निंदा दूसरी विधि उसकी भी निंदा करके अगली की विधि कर ही रहे हैं हम उसकी भी तो निंदा कर दे रहे आगे अच्छा परंपरा जो अंत में जिसके अनिंद रूप में स्थापित किया गया जो अनिंदित है अब अनपवादित है उसी को हम सत्य मानेंगे और जितने भी अपवाद परंपरा में एक दूसरे की प्रशंसा रूप में कथन किया गया वो सब के सबको वास्तविक अपवादार्थी मानना पड़ेगा इसे कहते देवदा दर्शन से मान देवता उपासन से संभूति विशेष विनाश शब्द वाच्य से कर्मण और विनाश शब्द वाच्य क्या है कर्म इन दोनों का समुच्चय के विधान करने के लिए संभूति का अपवाद किया गया यह बात हम भी मानते हैं तथापि फिर भी जो है विनाशाख्य से कर्म स्वाभाविक अज्ञान प्रवृत्ति रूप से विनाशाख्य जो कर्म है स्वाभाविक अज्ञान प्रवृत्ति रूप है मृत्यु अतरणार्थत्व मृत्यु का अतरण अधिकरण के लिए जैसा होता है वैसे ही कहते हैं विनाशाख्य से कर्म विनाश नामक कर्म को स्वाभाविक अज्ञान प्रवृत्ति रूप से स्वाभाविक ही अज्ञान प्रवृत्ति रूप है इसलिए कहते हैं कि जो विनाश नामक शब्द से जो बोध किया गया कर्म है शब्द जो कर्म का समुच्चय जो विधान किया गया तो संभूति की निंदा सत्य ही है फिर भी विनाश नामक कर्म जो कि स्वभाव क्या है अज्ञान रूपी प्रवृत्ति रूप मृत्यु के संतरण के लिए है अज्ञान रूप प्रवृत्ति रूपा क्या है मृत्यु है अज्ञान प्रवृत्ति रूप से मृत्यु हो अज्ञान निरूपिता प्रवृत्ति कोई दूसरे शब्दों में क्या का मृत्यु अज्ञान निरूपिता जो हम लोगों के अंदर स्वाभाविक एक अज्ञान है जिससे निर्मित होकर हमारे अंदर प्रवृत्ति हो रहा है इधर्श प्रवृत्ति रूपी मृत्यु से अधिकार अतिकरण करने के लिए जैसा ठीक उसी प्रकार से देवता दर्शन को भी समझो जैसे आप कर्म कांड करोगे तो क्या होगा आप अपने स्वाभाविक अज्ञान से निष्पंजो स्वाभाविक प्रवृत्तियों से ऊपर उठेगी नहीं उठ गए आप हित कर्मों को करोगे हित कर्मों को नहीं करोगे तो स्वाभाविक रागत प्राप्त निमित्त कर्मों में जो प्रवृत्ति संभावना थी उससे ऊपर उठे की नहीं उठी आप इसलिए जिस प्रकार से जो स्वाभाविक कर्मों से ऊपर उठने के लिए हमें शास्त्रीय कर्मों का अनुष्ठान करते हैं उसी प्रकार शास्त्रीय कर्मों से भी ऊपर उठ करके उसका फल क्या है अनित्य फल उनसे भी ऊपर उठ करके हमें कहा जाना है समृद्धि उपासना में ताकि कर्म मुक्ति की प्राप्ति हो सके अतः उस संभूति से ऊपर उठने के लिए ऐसा मृत्यु है सबल कर्म मृत्यु शास्त्र कर्म भी मृत्यु है समुद्र उपासना भी मृत्यु है ये सब विनाशी है ये सब अनित्य है वास्तव में प्रविद्या ही सत्य है ये कर्म से बोध कराना अभिष्ट है इसलिए कहते हैं देवता दर्शन कर्म समुच्च से पुरुष संस्कारार्थ इसे देवता दर्शन मैने उपासना और कर्म इसका समुच्चय क्यों कर रहा हूँ पुरुष संस्कारार्थ जीव के जो अंतकर्म शुद्धि के लिए मात्र है वो कर्म फल राग प्रवृत्ति रूप से साध साधन लक्षण से मृत्यु और करणार्थम वो किस लिए है कर्म फल जो कि राग प्रवृत्त पुरुष के लिए कामना से सकाम पुरुष के लिए साध्य साधन निष्णा द्वय रूपा जो मृत्यु है उससे अतिक्रमण करने के लिए उसका अतिकरण करने के लिए है और कर्म और उपासना समुच्चय केवल कामना फल केवल कर्म कर रहा है और उसे क्या होगा उसको कर्म फल राग प्रवृत्ति रूप से कर्म फल में राग था तारस राग निरूपिता जो प्रवृत्ति उस प्रवृत्ति रूपा क्या है वो साध्य साधन निष्णात रूपा है वो इधम मत साध्यम एक साधन न साधन ऐसे निश्चय कर लिया अमुक साधन के द्वारा मैं अमुक साध्य रूपा स्वर्ग को प्राप्त करूंगा ऐसा निश्चय कर लिया इधर साध्य साधन द्वय रूपा कर्म फल निष्ठा राग निर्पिता प्रवृत्ति आज तक जो मृत्यु उससे अतिक्रमण करने के लिए उसका अतिकरण करने के लिए उपासना और कर्म का समुच्चय का भाव से किया हुआ तार समुचित कर्म क्या करेगा हमको पुरुषार्थ पुरुष संस्कार पुरुष के संस्कार प्रदान करने वाला होगा एवं ऐशाद रूपा मृत्यु लेकिन ऐशाद रूपा मृत्यु से वियुक्त पुरुष वियुक्त हो जाएगा पुरुष और कैसा हो जाएगा एक जो उपासना कर्म का समुचित अनुष्ठान करने का फल संस्कृत पुरुष की वासनाओं का धुल जाने से संस्कार से युक्त हो गया अंतकरण उसका पवित्र हो गया शुद्ध हो गया अतो मृत्यु अधितरणार्था अतो मैंने समुच्चय से मुख्य अमृतत्व हेतु था देखो समुच्चय का फल मुख्य अमृत नहीं है ये ना समझे अविद्या मृत्यु तृतीय विद्या अमृतम अश्रुते अरे वहाँ विद्या का मतलब मुख्य अमृतत्व का मतलब मुख्य अमृतत्व नहीं है विषापेक्ष इसलिए कहते हैं अतो मृत्यु अतितरणार्था देवता दर्शन कर्म समुच्च लक्षण ही अविद्या वो भी अविद्या कोटि में इसलिए देवता दर्शन कर्म समुच्चय रूपा जो आपने जिस ये साध्य साधन भी मृत्यु से पार करने के लिए अपनाए थे वह समुच्चय भी वास्तव में क्या है अविद्या ही है एक से निकलने लगे दूसरा इसलिए एक गड्ढे से निकला दूसरे गड्ढे पर तब गिर गया छोटा गड्ढे से निकला और बड़े घंटे में गिर गया वही हालत थी क्या पहले तो स्वाभाविक कर्म करा था तो जैसे मरिया सो यही होता था अब उससे ऊपर उठने के लिए केवल कर्म किया स्वर्ग स्वर्गादि पाया उससे भी ऊपर उठने कर्म को उपासना समुचे करके किया वो भी ब्रह्मलोक तक पहुंचाने वाला ही हुआ इसे कहते सब वास्तव में क्या है विनाशी है सब अविद्या कोटि में ही है, है? कोई निश्चय है ना ब्रह्म लोग जाने के बाद तीन गति बताया था ना पहले ही कोई भरोसा नहीं आपकी वासनाओं के बढ़ने पर गारंटी नहीं होता क्रम मुक्ति में ब्रह्म लोग पहुंच तो गए ब्रह्मा जी के यहाँ तक अभी आपने सुना था भागवत में कि यदि ब्रह्मा जी भी क्षण भर के लिए गड़बड़ा लिए तो क्या होगा वो अपने वो श्लोक में सारे चिले चपाटे के साथ ऋषि ऋषि सब बताया वहां पर सबके साथ अगले कल में फिर जन्म लेंगे किसी की भी मुक्ति नहीं होगी तो ब्रह्मा जी की नहीं हुई तो दूसरे क्या होनी है यदि ब्रह्मा जी की हो जाती है तो तभी सबकी गारंटी नहीं जिनकी प्यार क्रम बन गया अगले कल में तुमको यमराज बनना है तुमको इंद्र बनना है तुमको अमुख होना है उसकी तो बुकिंग हो चुकी है रिजर्वेशन वो तो वहां जाएगा ही वो तो उधर चला जाएगा वो अब आजान देवता बन करके जन्म ले लेगा अगले कल अगले मनवंतर में भी जा सकता है किस प्रकार से व्यवस्था दिया भरोसा नहीं ना इसलिए और वहाँ ब्रह्मा जी काल पूरा हुआ नहीं इसी पीछे कोई दूसरी रासना जब गई तब तो वहां से लौट के नीचे आ जाएगा नीचे आ जाएगा ये समस्या खड़ी हो जाएगी वो भी तो बताया था तो तीनों गतियों में से कोई भी गति प्राप्त कर सकता है ना इधर डरे हुआ इसलिए उसको भी कभी अविद्या होगी भरोसा नहीं क्या बोले ब्रह्मा जी का दिमाग घूम जाए जैसे आदि काल खुद ने सरस्वती को पैदा किया उसके पीछे भाग गया उसी प्रसंग में तो कहा गया वहाँ उसे क्या भरोसा कब दिमाग खराब हो जाए इसलिए पहले एक बार महात्मा की कहानी सुनाया था एक ने पूछा महात्मा जी आप तो संत है अरे बस दो पंपिंग मत करो संत है महात्मा है महाराज है रहने दो अभी चुप रहो हम तुमको महात्मा हैया नहीं बाद में जवाब देंगे एक हफ्ता बाद एक हफ्ता बाद करते करते महीना बीत गया बार बार पूछती रही तो बस पूछा मन करो जब जिस दिन मेरे को बताना हो मैं बता दूंगा इन इंद्रियों में क्या भरोसा है, है? इसलिए मरने के पहले उन्होंने उस वेश्या को बुलाया कहे तेरे प्रश्न का आज मैं जवाब दे रहा हूँ मैं महात्मा था मैं महात्मा हूँ और रह गया दो तो घड़ी मौत की इसे मैं महात्मा ही रहूंगा अब गारंटी है कोई नंगी भी चिपक जाए मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता अब जब ढीला तो पड़ेगी अब क्या रह गया अब कौन उसको उकसा सकेगा तो अंतिम क्षणों में ही आप निश्चय कर पाएंगे आप संत या नहीं चोला पहनने से तो अपने हम आत्मन के अहंकार करते हैं गुरु बन जाते चेले को बचाने की चेष्टा करते रहते हैं और चेला गुरु को बचाने की चेष्टा करते हैं दोनों फिर बाद में ठेला ठेला हो जाते हैं ये नहीं होना चाहिए कोई गारंटी नहीं इसलिए संत हो गया वेश पहन ले ठीक है आप अपने आप को जो है समाज को जता दिया भाई हम इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते हम विवाह नहीं करना चाहते हम धन दौलत के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते मठ बहनता है में नहीं जाना चाहता हूँ अपने आप को मैं विरक्त हूँ अलग हूँ मैं सांसारिक व्यवस्था में नहीं पढ़ना चाहता हूँ ये दिखाने के लिए अपने लाल पहन रखा है मैं डेंजर हूँ ये मेरे पास आवे तो मेरे को भी खतर तेरे तो हो ही क्या बेड़ा गर्द मेरा भी बेड़ा गर्द हो रहा ही तेरा भी हो ही जाएगा इसलिए हम डेंजर फ्लैग पहन लिए हैं तुम हमारे पास मत आओ लेकिन उसको उस नियत को बनाए रखना है मरण पर्यंत तभी वास्तव में महात्मा हो पाता है उसी तरह ब्रह्मा जी भी अपने आयु पूरा पर्यंत तो ब्रह्म विद्या को लेकर के तस्वरूप तो की चिंतन करता हुआ विद्यमान रहेंगे तब तो थोड़ा सा गड़बड़ा गया तो सारा खेल गड़बड़ा जाएगा वही कह रहा था कि भाई भूल और पाप में क्या फर्क है अभी तर्क दे रहा है तो खुद गड़बड़ कर आया था ना वो साधु वेश में एक बार गड़बड़ कर दिया फिर अक्कल सुधरी वो अपना तर्क दे रहा है भूल वो चीज है एक बार जो है आपने किया फिर दोबारा नहीं किया वो क्षम्य है भूल को क्षमा किया जा सकता है लेकिन पाप की क्षमा नहीं होगी क्यों एक बार भूल हुआ फिर नहीं दो बार भूल हुआ तीन बार भूल हुआ तो उस आदमी को पापी माना जाएगा और उसको कोई माफ नहीं है और उसे दृष्टा अमराज जी के लिए अमराज जी के पास एक बार दो आदमी मर के यहाँ से गए एक बार एक ही एक ही शादी करके मरा था एक ही बार गृहस्थी में गया और मर गया और दूसरा भी वो था जो एक बार शादी किया उसे छोड़ा फिर दूसरी बार शादी किया फिर मरा तब गया यमराज जी ने कहा ये जो एक बार शादी करके आया इसने भूल किया है जरूर फिर इसको शादी करने थोड़ा भेजा था संसार में ज्ञान पाके मुक्ति पाने भेजा मनुष्य शरीर दिया और ग्रस्ती करके गड़बड़ किया इसने इसलिए इसको जो है स्वर्ग में भेज दो और इसने एक बार बार बार गड़बड़ कर दिया इसलिए इसको तो नरक में भेज दो इसका भूल तो क्षमा योग्य है और उसका भूल नहीं हो तो पाप ही हो गया है क्षमा है कि नहीं उसको तो नरक में भेज देना है उसने आपने ये दावा दिया मैं तो एक ही बार गड़बड़ के दोहरा नहीं किया फिर मेरे को सर गारंटी मिलेगा मैंने कहा देखो तुम्हारी ये सोच है ना इसे कोई प्रमाण नहीं है ये उनकी कहानी तुमने बता दिया कहा देखो सिनेमा में देखा था क्या नहीं किस पुराण में पढ़ा है बताओ कोई प्रमाण तो है नहीं बकवास कर रहे हो और ये भाव लेकर के तुम प्रायश्चित नहीं करोगे अभी फिर गड़बड़ हो जाएगा संभल जाओ अभी से इसीलिए अभी से तुम लगे रहो प्रायश्चित में जो किया गड़बड़ उसके लिए खूब जब तब करो ये मत सन्यासी हो गए ठीक है गड़बड़ हो गया था अब ठीक हूँ ये सोचने से नहीं चलेगा तो यहाँ पर कहते हैं कि वो भी अविद्या कोटि में ही आ जाता है इसलिए सारी चीजें ब्रह्मलोक पर्यंत की फल वाला वो भी अविद्या कोटि में एवं एवं ऐसा लक्षण आद विद्या क्योंकि ब्रह्मलोक प्राप्ति भी क्या है एक ऐसा तो है वो भी साध्य मैं उसे प्राप्त करना चाहता हूँ उसके लिए मैं उपासना कर रहा हूँ साध्य कोटि के अंदर तो भी आ गया ना इसलिए जो कुछ भी ऐसा कोटि में वो सब अविद्या इसलिए कहते हैं एवं एवं ऐसा लक्षणात् अविद्या मृत्यु मृत्योरतिरण रक्त साध्य साधन रूपा लक्षण पूता जो है ऐसा से अविद्या से अविद्या मृत्यु हो अतिर्ण से तारस विद्या मृत्यु से जो अतितीर्ण विरक्त वास्तव में तर गया जो परम विरक्त पुरुष उपनिषद आलोचन पर उपनिषद शास्त्रों के अर्थ को विचार कर चिंतन करने ही है तत्पर संयत इंद्रिय आलोचन पर उपनिषद शास्त्रार्थ का ही चिंतन मनन करने में ही है निष्ठा जिसका ऐसा जो व्यक्ति नान्तरीय की परमात्मक विरोध विद्योत्पत्ति अवश्यम भावी नान्तरीय मैंने बिना किसी प्रकार का व्यवधान का निश्चित रूपेण ही क्या होगा परमात्मक विद्या उत्पत्ति परमात्म जीव रमकत्व की विद्या जो है उसकी उत्पत्ति होती है यदि पूर्व भाविनी अविद्या अपेक्षा पश्चात भाविनी ब्रह्म विद्या अमृत साधन इधर नहीं जो विद्या की अपेक्षा से पश्चात भावी जो है ना वास्तविक अमृतत्व किसने है ब्रह्म विद्या में ही है जो कि वास्तविक अमृतत्व का साधन है वो एक पुरुषेण संबद्ध माना और इन दोनों को एक पुरुष संबद्ध कर दिया नौका से चला इन नौका को छोड़ के तट को पा सकेगा वो इन दोनों को समुच्चय करना है लक्ष्य वहां पर दिख रहा है तट यदि लक्ष्य उसका तट नहीं रहेगा तो क्या रहेगा नदी बहते जाएगा बहते जाएगा तो समुद्र में चला जाएगा क्यों तट को लक्ष्य न बना है तो कहा जाएगा वो नौका पड़ा है और तो बैठा है चला रहा है चला रहा है जाती रहेगा जाती रहेगा जाती रहेगा जब तक समुद्र में नहीं खत्म होएगा या कहीं उलट उलट पलट हो गए खत्म हो जाएगा इसलिए उसको साथी क्या रहता है मुझे तट जाना है और पकड़ लिया नौका को और नौका से चल पड़ा जाता है वहां तक लेकिन बाद में यदि नौका को उससे उतरेगा नहीं तो तट को पाएगा क्या हो नहीं पा सकता उसी प्रकार यहाँ पर भी चला उसने कहा से अविद्या से अविद्या रूपी साधन को लेकर के चल रहा है और अविद्या रूपी साधन से अविद्या से चंद जो अंतत्व रूपी मलिन वस्तु को शोधन भी किया वो शोधन भी अविद्या ही है इन सभी के माध्यम से हुआ क्या उसको अंत में परम ज्ञान मिल गया ब्रह्मानुभूति हो गई वास्तव का अमरत्व मिल गया वह तो साधन छूट जाएगा और वह लक्ष्य स्वरूप में सर्वस्थित हो जाएगा इसलिए कहते हैं एक पुरुष के द्वारा दोनों को समित कर दिया विद्या को भी विद्या को भी अविद्या मृत्यु तीर्था विद्या अमृतम अष्ट अविद्या से मृत्यु को तर गया लेकिन जब विद्या से वो मृत्यु को पाता अंतिम हिस्सा में इसे कहते हैं अविद्या अपेक्ष पूर्व भाविनी है वो और पश्चात भाविनी कौन है ब्रह्म विद्या वो अमृतत्व का साधन है इन दोनों को एक पुरुषेण संबद्ध माना एक कर्तृकत्व है ना तीर्थ सत्ता प्रत्यय ना इसलिए जो कहते हैं एक पुरुष के द्वारा संबंधित करता हुआ अविद्या समुच्चीयते अविद्या का समुच्चय कर दिया गया ऐसे कहा जा रहा है अतो अन्यार्थता अमृत तो साधन ब्रह्म विद्या अपेक्ष निंदार्थे भवती इसे अन्य प्रयोजन है यहाँ पर संभूति की जो प्रशंसा है संभूति की निंदा है समुच्चय की प्रशंसा सारी चीजें अन्यार्थ ही है क्यों अमृत साधन बुता जो प्रमित्या है उसकी अपेक्षा से निंदार्थ भवती निंदा के लिए है ही है उसके लिए क्या करना पड़ा संभूत अपवाद जो सर्वश्रेष्ठ का कार्य है उसके अपवाद करना पड़ा यद्यपि अशुद्ध वियोग हेतु अतनिष्ठत्वा यद्यपि ये क्या है अशुद्ध के वियोग का साधन था वो अतनिष्ठत्व अविद्या द्वारा उपस्थित किया गया जो माया निर्मित जीव के अविद्या का नाश होने पर वो अपने स्वरूप में स्थित तो होता है लेकिन यहाँ पर जो किया गया तो सारा खेल किस लिए था तथा अशुद्धि का वियोग का ही मात्र का साधन था अतएव वो पुरुष में निष्ठ है नहीं आत्मा में निष्ठ नहीं है इसी को यद्यपि से कहा अन्यार्थत्व समुच्चय से अशुद्धि क्षय हेतुत्व अन्यार्थत्व मतलब क्या अशुद्धि का क्षय है का साधन मात्र प्रकट करना है गौण प्रयोजन है उसका तत्द इष्टम किमित अपवाद अखबार क्यों कर रहे हो क्योंकि तथा अतनिष्ठता यद्यपि कह देना फिर तथा समझ लेना यद्यपि अशुद्धि वियोग हेतु तथापि अतनिष्ठत्वा परमार्थ अमृत फल भाव फिर भी क्या अतनिष्ठत्व मैंने पारमार्थिक अमरवोत्व रूपी जो फल मोक्ष के फल को प्रदान करने वाला नहीं है अतनिष्ठ मैंने मोक्ष रूप साध्य निष्ठ वो साधन नहीं है वह साधन मोक्ष रूपी जो साध्य है उसमें निष्ठा स्वरूप में निष्ठा नहीं प्राप्त करा सकता है अतएव संभूतर अपवादक संभूतिर आपेक्षिकम सत्यमिति इस संभूति के अपवाद से ये ज्ञापन कर दिया संभूति में आपेक्षिक ही जो है सत्व है अमरत्व है ये समझो परमार्थ अपेक्ष अपेक्षा क्या संभव प्रतिषिधित जो परमार्थ सत्य है और आत्मिक भी जो अमृत है उसकी दृष्टिकोण से आख्या संभव प्रतिषिध उसको प्रतिषेध किया गया संभव ने कार्य मात्र प्रतिषेध क्या संभव प्रतिषेध है इसलिए जिसको आप अमृत मानते थे नित्य मानते आप हिरण्य गर्भ को उसको भी इसलिए निषेध क्योंकि हमारे लिए पारमार्थ सदगुण है आत्मकत्व वही परमार्थ उसकी अपेक्षा से जो अमृत नाम से आप मान के चल रहे थे आज तक उस संभूति का संभव का कार्य का में प्रतिषेध करना पड़ता है संभव कार्य मात्र प्रतिषिध्यर्थ एवं माया निर्मित जीव से विद्या प्रतिपस्थापित विद्यानाशे स्वभाव रूपत्ता परमार्थत एवं इस प्रकार से संभूति के अपवाद के सम, के समान संभूति अपवाद वेव एवं मैंने संभूति अपवाद के समान माया निर्मित जीव से विद्या प्रतिष्ठापित माया से निर्मित कौन ये जो जीव है अविद्या के तरफ प्रतिष्ठापित है उस अविद्या नाशे स्वभाव रूपत्वाद परमार्थ अविद्या का नाश होने पर उसका भी नाश हो जाएगा स्वभाव रूपत्वाद शुद्ध चिन्ह मात्र स्वरूप यहाँ पर आत्म स्वरूप कैसा है शुद्ध चिन्ह मात्र स्वरूप है उस स्वरूप की अनुभूति इसी को बोध कराने के लिए कहा श्रुति ने कौन वेनम जन वृदान्य तीन नौ उसका पूरा मंत्र नीचे दिया है जात एवं न जायते कौन वेनम जनहे पुनः विज्ञानम आनंदम ब्रह्म रात परायणम तद तद्विदा जात एवं न उत्पन्न हुआ जो कुछ भी कार्य है वास्तव में उत्पन्न होते ही नहीं है कोरम जने कौन सा ऐसा कारण है जिससे उत्पन्न हो सकेगा विज्ञानम आनंदम ब्रह्म क्योंकि विज्ञान रूपा है आनंद रूपा है वह ब्रह्म रात्रि परायणम वह सभी को रक्षा करने वाला है सभी को आश्रय देने वाला है और सभी का परम श्रेष्ठ अधिष्ठान है तिष्ठमान सतत विदा उस स्वरूप स्थित रहता हुआ उस आत्मा को ही जानो ऐसा विद्यमान ब्रह्म को जानो यदि प्रधान की तृतीय अध्याय नवम ब्राह्मण श्रुति स्पष्ट कर दिया तीन नौ नही रज्वाम अविद्यारोपित सर्वम पुनर्विवेक तो नष्टम जनयती कश्चित जनयत कश्चित कहते रज्जु में अविद्या से आरोपित जो सर्प था और आपने बड़ा विवेक करते हुए उसको नष्ट कर डाला ऐसा जो आप क्या दोबारा उसमें सब उत्पन्न करना चाहेंगे है? वो ही करना चाहेगा जिससे आप दुखी रहे जिससे भयभीत रहे वो आपके आपसे ही मिटा लिया गया फिर दोबारा उसके चक्कर में कौन जाएगा कोई नहीं जाएगा मूर्ख जरूर चले जाएंगे भाजपा जैसे मूर्ख जो होते हैं ये चले जा दो बार लाभ दे चुकी मायावती नहीं फिर भी उसी के चक्कर में ये मूर्खों का काम विवेकी नहीं इसलिए तो विवेक करते हो भाष्यकार संभल के बोल ये तो अविवेकी है ना ये चक्र पढ़ते रहेंगे लाभ खाएंगे फिर उसी चक्र में जाए जिस अविद्या से तुम लाभ खाए हो अनेक जन्मों से अनादिकाल से जो है बंधन में फंसे रहे हो वो अविद्या को विवेक से नष्ट कर चुके दोबारा उसी अविद्या को चिपकाओगे कौन चिपकेगा उससे कोई नहीं चिपकता बुद्धिमान पुरुष तो- नकाश्चित कोई नहीं कर सकता ऐसा काम जो एक बार अविद्या सर्प को पुनः विवेक से नष्ट करने के बाद में कौन नहीं कश्चित जनित पुनः कोई भी दोबारा उसको उत्पन्न नहीं करना चाहेगा तथा न कश्चित एनम जनेदी को नु इत्याक्षेप कारणम प्रतिषिधित है यहाँ उत्पत्ति के कर्ता का निषेध नहीं कोशक से भाई बता रहे न कश्चित एनम जनित्यर्था सभी तात्पर्य को नु ये जो शब्द है किम शब्द यहाँ आक्षय अतएव कारण में वृक्षते कारण का ही प्रसिद्ध करते निमित्त कारण उपादान कारण कोई कारण नहीं सर्व कारण निषेध पर समझो इसको अविद्या उद्भूत से नष्ट से जनित्री कारण न किंचित स्थिति अभिप्राय अविद्या से जो उद्भूत नष्ट से अविद्या से उद्भूत है और नष्ट हो गया जनित्री कारणम न किंचित अस्थि अविद्या से उत्पुत इस जगत को आपने नष्ट कर लिया नष्ट करने के बाद में दोबारा उसको उत्पन्न करने का कोई कारण ही नहीं रह जाता ये इसका अभिप्राय है नायम कुतश्चिन्न बबूव कश्चित है नायम कुतश्चित न बबूव कश्चित ये भी कह दिया अन्य श्रुतियों में नाश के अंतर जो है इस जाने से उत्पन्न नहीं होता इसमें प्रमाण दिया कहीं से भी नहीं होगा और कोई भी नहीं करेगा ऐसा अतएव उत्पत्ति को मानने वालों के मत के अनुसार भी हमारे अद्वैत में कोई क्षति नहीं हुई क्योंकि वह उत्पत्ति आविध्य की है ये निश्चय कर लिया गया पारमार्थिक उत्पत्ति संभव ही नहीं है अतएव यद किंचित उत्पत्ति की आप परिकल्पना कर रहे हो तो परिकल्पना कर लीजिए तारस द्वैत का अद्वैत के साथ कोई विरोध हो नहीं सकता कहते हैं कि भाई इतना अत्यंत निषेध कहाँ देखा आत्यंतिक निषेध है द्वैत की कहा कहते श्रुतियों में देखिए आप सहेश नेति नेति व्याख्यात सर्वग्राह्य भाव हेतु नाजम प्रकाशत सहेश नेति नेति व्याख्यात निन्नुदयत जिससे यत सहेशा वह यह जो आत्मा यह नहीं है यह नहीं है किंतु है क्या केवल आत्मा ही है तेरी व्याख्यातम इस प्रकार से श्रुति वाक्य